फिर शायद आप उसका कोई हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी जानब वही किया जाता है या उस पर आपका सीना तंग होने वाला है कि वो कहेंगे इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतारा गया या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया यकीनन आप तो महज खबरदार करने वाले हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरान है